जादू बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ओम शांति रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को मिलने के लिए जे पी काला जी आए हैं सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय दें जेपी काला उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से हूँ और यहाँ ये आबू में आपके ब्रह्म कुमारी जो आपकी संस्था है इसमें हम्म। हमने योगदान किया जी जी जो सहयोग जो सोच से भी विपरीत था उसके अनुसार जो यहाँ पे सेवाएं मिली उसके लिए हम हृदय से गदगद हैं जी जी जी और जितना भी जितनी भी तारीफ करें मुझे लगता है कि इस योग्य हम नहीं है कि इतनी तारीफ कर सके कि जो हमारे मुंह से सो बना दे इस तरह से यहाँ के कर्मचारियों द्वारा यहाँ के स्टाफ द्वारा यहाँ के जितने भी श्रद्धालु जन हैं सबके द्वारा जो प्यार प्रेम और मधुरता का परिचय दिया गया वो हमारे दिलों और दिमाग में आसन हो चुका है और सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप अवश्य वहाँ जाइए और कुछ सीख कर आए दोस्तों देखा आपने कि काला सर ने किस प्रकार से कहा यहाँ आने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा तो यहाँ का वातावरण अच्छा लगा यहाँ जो प्रोग्राम में बहुत सारे लोग देश भर से आए थे तो सभी से मिलकर उनको बहुत अच्छा लगा हम जानना चाहेंगे कि सर आपका जिस कार्यक्षेत्र में आप कार्य करते थे वहाँ का परिचय कराए अमूमन मैं जिस फील्ड से आता हूँ जी तो मेरे उनचालीस साल का जो अनुभव है जहाँ मैंने नौकरी की है जी जी तो हमने भी पब्लिक सेक्टर में ही काम किया है जी जी और पब्लिक सेवा का ही काम किया है क्योंकि हमारी नौकरी वही थी जी जी गरीबों के उत्थान हेतु जी जी जी जी जी जी यही हमारी जो है नौकरी सेवा के दौरान हमारा कार्यकाल भी यही रहा जी तो थोड़ा हम उससे भी थोड़ा प्रेरित थे जी कि किस प्रकार से गरीबों की सेवा की जाए किस प्रकार से क्योंकि हमारा हम जिस विभाग से बिलोंग करते हैं जी उस विभाग उस विभाग का अर्थ यही था कि उस विभाग का, काम यही था कि गरीबों का उन उत्थान करना जी जी को विभाग का नाम क्या था हमारे विभाग का नाम था पंचायती राज जी विभाग जी जिस विभाग से जिस विभाग जो गांधी जी ने एक अपने सपनों का जो पंचायती राज बनाया था उसी विभाग में हमने सेवा की और उसी विभाग के तहत हम लोगों ने जो है गरीबों के उत्थान हेतु जो सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं होती थी उनको हम उसमें लागू उनके ऊपर लागू करते थे और उनको उस योजना से लाभान्वित करते थे जी जी जी जी जी बहुत अच्छा आपने कार्य किया है आप सरकारी सेवा करते थे और सरकारी सेवा करते करते गरीबों की सेवा भी आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे क्योंकि गरीबों की सेवा का आपका लक्ष्य था और वही सेवा आपको मिली जो गरीब है निशा है उनको सहायता करना वो आपके डिपार्टमेंट का कार्य था तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ना कैसे हुआ एक्चुअल में ब्रह्म कुमारी ये तो हमारे जानो जहन में था जी लेकिन इसकी जो बारीक बारीक बारीकियां थी वो उसका हमें इतना आवास नहीं था कि एक्चुअल में इस ब्रह्म कुमारी में किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी जी दी जाती है तो हमारे भतीजे हैं अमित काला जी तो, हाँ, अमित काला तो आपकी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के ही रहने वाले हैं तो उन्होंने ही हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग दस बारह लोगों का हमारा ग्रुप है जो हम एक ही जगह से एक ही गांव से आए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रेरणा मिली कि यहाँ जाइए तो यहाँ आके हमने काफी कुछ सीखा काफी कुछ जानकारियां मिली अच्छे अच्छे विद्वान लोग प्रतिभाशाली विभूतियों से विरोधियों के जब प्रवचन सुने तो उनसे हमें ये लगा कि वाक्य में भगवान है और भगवान को मानना चाहिए भगवान को तो मानते ही हैं लेकिन उनके द्वारा जो भगवान के सार्थक रूप में जिस जिसका उन्होंने वर्षों वर्षों तक अध्ययन किया है उन लोगों के द्वारा जब भगवान के बारे में सुना तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा और एक प्रेरणा मिले कि जिस प्रकार से ये लोग इस भक्ति भाव में लीन है भगवान हमें भी यही प्रेरणा दे यही सद्बुद्धि हमारे ऊपर भी दे कि हम भी इन्हीं लोगों की तरह इसका निर्वहन कर सके जी जी बहुत खूब काला सर आपने यहाँ आकर यहाँ का भी अनुभव सुनाया कि यहाँ के जो लोग हैं जो परिपक्व है ध्यान चाहे ध्यान में है चाहे शिक्षा के बारे में है ज्ञान में है वो सभी परिपक्व है बहुत सारा उनका अभ्यास है जो ब्रह्मा कुमारी बहन है बहुत ही अभ्यास है और वो सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराती है और बहुत अच्छा ज्ञान देती है तो हम ये चाहेंगे कि जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे देखिए तो हम बहुत कुछ जा रहे हैं जी बैग बैग बैग भी हमारे पास होते वो भी कमी थे इतना ज्ञान का समुन्दर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनमें ज्यादातर हमारी बहनें हैं जी जो कि समुद्र को समेटे ज्ञान के समुद्र को समेटे हुए हैं तो काफी कुछ सीख के अनुभव करके हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारी आदरणीय बहनों द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं उनका शत प्रतिशत उनका अनुसरण करेंगे यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी वो सद्बुद्धि दे कि हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें जी जी जी बहुत खूब काला सर आपने बताया कि यहाँ आकर उनको बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि यह हमें बहुत सारा ज्ञान मिला और ज्ञान लेकर जा रहे हैं और वहाँ फिर से विद्यालय से जुड़े रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हो radio Madhuban one zero seven point eight F M सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक मेहमान से हम आपको मिलाना चाहते हैं जसवंत सिंह जी नमस्कार सर हाँ नमस्कार सबसे पहले हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें मैं Jaswant Singh district attorney retired हूँ रेवाड़ी से जी जी जी रेवाड़ी हरियाणा जी और मैं पहली बार आया हूँ यहाँ जी माउंट आबू जी यहाँ देखने को मेरा जहाँ तक तजुर्बा हुआ जी वो सर ये ब्रह्म कुमारी को मैंने तो ये देखा कि ये कोई संस्था संगठन या वैसे कोई सामाजिक वो नहीं है जी ये एक धारा है जी ये ज्ञान की धारा है ईश्वरीय ज्ञान की धारा है जो जिसका प्रभाव और जिसका प्रवाह सारे विश्व में फैला हुआ है जी जी जी और मैं ये कहता हूँ कि अगर विश्व शांति या कहीं स्वर्ग है तो ये हम ईश्वरीय ज्ञान जो विश्वविद्यालय है यहीं से शुरुआत होती है उसकी और अगर विश्व कल्याण और आदमी को अपना कल्याण चाहिए ना जी जी तो हमें मतलब सब भाई बहनों से मैं मेरा ये निवेदन है कि इससे जुड़े और जो है अपने जीवन को सफल बनाए और विश्व में ये ये एक शांति की क्रांति है जी जी मैंने तो अपने बहन दीदी शिवानी के शीला दीदी के और डॉक्टर सविता जी लेक्चर भी सुने जी जी जी और उन्होंने जो कुछ यहाँ ज्ञानामृत जो है वो दिया हमें तो उससे बहुत मतलब फायदा हुआ जी जी और मेरा अनुभव ये है कि ये तो विश्व में ना एक एक क्रांति हो जाएगी शांति की क्रांति जी जी जी जी और अगर विश्व शांति जहाँ हो जाएगी जी वहाँ सब मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए जी जी जी आ, हाँ, ये ईश्वरीय ज्ञान का एक बहुत ही बड़ा यहाँ शुरुआत है ये समझो ये यहाँ इसको हम कहेंगे शांति वन से ही विश्व शांति की शुरुआत है जी जी जी बहुत खूब जसवंत सिंह जी यहाँ कर उनको लगा बहुत अच्छा अनुभव हुआ जी और यहाँ रहने सहने का तो क्या है भाई प्रबंध जो है ना जी वो बहुत ही सराहनीय है मतलब ऐसा आ, हमारी ना सोच से भी दूर है कि ऐसी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है जी जी, जी। रहने सहने की खाने पीने की जी, और जी। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल सब मतलब चीजों की मतलब यहाँ कोई किसी तरह के वो नहीं यहाँ आदमी जो है अपना ध्यान लगा सकता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना अपने आप को उसमें लीन कर सकता है क्योंकि यहाँ एक ये ऐसी ऊर्जा है यहाँ ऐसी वाइब्रेशन का अनुभव हो रहा है कि ये मतलब आदमी की जो है पूर्ण तया की तरफ जो है वो जी जी जी जी जी बहुत खूब जसवंत सिंह सर जी आपने यहाँ आकर अनुभव किया कि जो ब्रह्मा कुमारी बहने हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं बहुत बहुत अच्छा ज्ञान की अमृत धारा बहाती है हाँ तो वो अनुभव आपको अच्छा लगा और साथ में उन्होंने कहा यहाँ रहने की सुविधा बहुत अच्छी है वहाँ का वायुमंडल अच्छा है अच्छा। यहाँ का वाइब्रेशन अच्छा है उन्होंने बहुत अच्छा प्रभावित किया है सर तो हम ये चाहेंगे कि जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी मतलब वो है ओम शांति कहो या ब्रह्म कुमारी कहो इनसे मतलब हर आदमी को एक बार अवश्य जुड़ना चाहिए जी जी जी जी जी ये आत्म कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए और विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और अब ये जो होने वाला हुआ है जो अपना कन्वेंशन uh, वो भी ये यूनिटी एंड ट्रस्ट ये हुआ है इसमें सभी मतलब देश विदेश हर हमारे भारतीय प्रदेश के आदमियों ने यहाँ भाग लिया जी जी। और अपने अपने विचार रखे और बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हुआ बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय देखकर आपका अनुभव साझा किया तो चलिए दोस्तों लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हो radio Madhuban 107.8 zero seven point eight F M सुनते रहो मुस्कुराते रहो प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद तेरी भूले न भूलाए हर पल ध्यान तुम्हारा हो याद तेरी भूले न भूलाए हर पल ध्यान तुम्हारा दोबारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा ज्ञान तुम्हारा ऐसे जैसे नयन तीसरा पाए कलमश सारे भस्म हुए अंधियारे दूर भगाए ज्ञान तुम्हारा ऐसे जैसे नयन तीसरा पाए कलमश सारे भस्म हुए अंधियारे दूर भगाए जन्म जन्म की ज्योति जागी उजियारा उजियारा प्यार बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद तेरी भूले ना भूला हर पल ध्यान तुम्हारा हो पतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा कहा बच्चे तुम ही तो मेरे नैन सितारे दिल ने कहा ओ मीठे बाबा केवल तुम ही हमारे तुमने कहा बच्चे तुम ही तो मेरे नैन सितारे मेरे बच्चे हुआ तुम्हारा सारा जो है हमारा बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद तेरी भूले न भूलाए हर पल ध्यान तुम्हारा हो तुम्हारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा बाबा बन करके फानूस मदद तुम्हारी कदम कदम पर करते हम महसूस करते तुम्ही हिफाजत बाबा बन करके फानूस तेरी श्रीमत जीवन पथ का सबसे बड़ा सहारा प्यार अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा याद तेरी भूले ना भुलाए हर पल ध्यान तुम्हारा हो मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया